आदि मनो الحمد لله ऋग्वेदीय परिषद द्वितीय अध्याय के पंचम मंत्र पर कुछ विचार हो गया जिसमें कहा था वामदेव जी को गर्भ में रहते हुए आत्मगर्भ में रहते ही आत्मज्ञान प्राप्त हो गया उन्होंने अपना अनुभव बताया मैंने इन इंद्रियों के और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं को अनेक बार जन्म देना सैकड़ों बार जन्म देना जन्म इन्हीं का अपना ये शरीर छोड़कर के दूसरे शरीर पर जाने वाले ये सूक्ष्म शरीर का पुंजी होता है इन्हीं का जन्म स्थूल शरीर को यही छोड़ना है मैंने अनेक बार जन्म देखा और मेरे सामने पहले अनेक प्रकार के जंजीरों ने मुझे बाधा हुआ था अनेक जगह पर नाना प्रकार के शरीर ने मुझे बाधा था उसमें आप भी की आज अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के परिपाक के फलस्वरूप मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो जैसे एक शेर पक्षी जाल को काट करके निकल जाता है फाड़ करके निकल जाता है उसमें शक्ति बाकी पक्षी निकल नहीं सकते उसी प्रकार आज मैं यहां से निकल गया मैंने अपने आत्मभाव में बैठा हुआ ये इतना निर्भेद्य कवच है इसको भेदन करना बड़ा मुश्किल है पांच पांच कवच हमारे ऊपर डला हुआ है सबसे पहले अन्नमय कोष है बहुत सारे लोग अन्नमय कोष में फंसे हुए होते हैं उसी को शरीर को शरीर की रक्षा हेतु उसी को रखना सुंदर जगह बनाना अच्छी तरह रास्ता बनाना उसी में लगता फंसना हो कुछ लोग शरीर का इतना ध्यान नहीं देते प्रारब्ध को ऊपर छोड़ देते हैं तो साधक कोटि में गए हुए होंगे तो अन्नमय कोष में तो इतनी आसक्ति उनकी नहीं होगी किंतु भीतर वाला जो प्राणमय कोष में आसक्ति होगी बढ़िया खान पान करें और अच्छा काम करें पांच कर्मेंद्रिया पंच प्राण मिलकर के प्राणमय कोष होता है तो शरीर के इतने परवाह नहीं करते हैं प्राण देते छोड़ देते हैं फिर भी प्राणमय कोष में फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं उसी में लगे हुए हैं आत्मचिंतन नहीं कर पा रहे जाने का पांच कोष से बाहर है आत्मा स्थिति है शास्त्र के कहना है तो कुछ लोग खान पान में भी इतना ध्यान नहीं देते जैसा मिले चलता है शरीर को भी इतना परवाह नहीं करते जैसा है वैसे चलने देते हैं किंतु देखने सुनने घूमने फिरने में उनकी इच्छा होती है मैंने मन में नहीं प्रश्न है तो कई मुश्किल से मानव शरीर मिला है वहां देखो वहां देखो वहां जाओ वहां जाओ ये करो ऐसे बुद्धि बनती मैंने पंच ज्ञान इंद्रिया और मन को लेकर के मनोमय कोष होता है ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से मन को चलाने की इच्छा है तो ये मनोमय कोष में फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं वहां से भी कोई ऊपर होंगे मनोमय कोष से मान शरीर का भी इतना ध्यान नहीं देते खान पान आदि के भी इतना ध्यान नहीं देते प्रारब्ध के आधार पर है घूमने फिरने आदि की भी इतना इच्छा नहीं है किंतु देखो ये सब सविशेष है सारे जितने भी सविशेष है हर व्यक्ति में एक विशेषता है कुछ न कुछ विशेषता है आप जो काम नहीं जानते वो दूसरा व्यक्ति वो काम जानता है विशेषता है तो जिस विशेषता जो जिसके पास जो विशेषता होगी उसी को लेकर के अभिमान में बैठा हुआ है ये तो मैं ही जानता हूं दूसरा नहीं जानता ये विज्ञान में को उसके अधीन होकर बैठे हुए पाएगा जो मैं जानता हर व्यक्ति कुछ न विशेषता है सब में वो चीज जो काम कर सकता वो काम आप नहीं कर सकते उसकी विशेषता है उसमें दर्जी जो काम करता है वो काम आप नहीं कर सकते उसकी विशेषता है तो सब में एक विशेषता है सविशेष ऐसा है सविशेष माने विशेषता के आधार पर ही सविशेष है हर व्यक्ति में विशेषता है तो जो विशेषता जिसमें होगी उसको लेकर के उसके अभिमान बन जाता है ये तो मैं ही जानता हूं दूसरा नहीं जानता विज्ञानमय कोष में फंसे हुए होंगे वहां से भी कुछ ऊपर उठा हो रहा कोई मुश्किल से तो आनंदमय कोष में फंसा हो शरीर का इतना परवाह नहीं प्रारंभ के अधीन छोड़ता है माने खान पान आदि का भी इतना ध्यान नहीं देता प्रारंभ जैसा हो छोड़ देता है कुछ लौकिक या शास्त्रीय कर्म करने का भी इतना अच्छा नहीं है मैंने प्राण में कुछ ऊपर है घूमना फिरना आदि भी इतना इच्छा नहीं पांच इंद्रियों के माध्यम से मन को चलाने की इच्छा भी नहीं है और वो मनोमय कोष के ऊपर उठा हुआ है किंतु कोई विशेषता को लेकर के अभिमान भी नहीं है निर्भिमान भी पाए जाते हैं तो विज्ञानमय कोष के ऊपर देखा जाता है किंतु आनंदमय कोष में जाने के पास फंस जाता है खाओ पियो सो जाओ गृहस्थी होकर के रोया नहीं साधु होकर के सोया नहीं किसका ऐसी भाषा हमारी मान नींद की गोली खा खा के सो जाओ आलसी जीवन हो जाएगा वहीं डुबा रहेगा वहां से ऊपर उठने की कोशिश नहीं करता वहां से जो उठ सकता है वो पंचकोश को पार कर सकता है लौकिक कार्य भी नहीं करता हो और जगा हुआ भी हो सोना भी नहीं चाहिए ऐसे अपने स्वरूप में जगा हुआ होना चाहिए वही आत्मा को आत्मदेव को छू सकता है पंचकोश से बाहर है जैसे बामदेव जी ने प्राप्त किया ये कहना चाहते हैं आगे मंत्र है तो आत्मा प्राप्त होने पर क्या स्थिति होती है तो कहते हैं स एवं विद्वान अस्मात् शरीर भेदा पूर्व उत्क्रमिष्या उत्क्रम्य हाँ। स एवं विद्वान अस्मात् शरीर भेदा उत्क्रम्य अमुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्वा अमृत समभवत् स एवं विद्वान् अस्मात् शरीरभेदात् ऊर्ध्वम् उत्क्रम्य अमुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतस्तमभवत् समभवत् स एकम पिता स वामदेव स से वामदेव लाना है वो वामदेव ऋषि एवं विद्वान इस प्रकार से आत्मभाव को जानने वाले इस प्रकार से जिस प्रकार से वामदेव ने आत्मा को समझा ऐसा जानने वाले क्या हुआ उनके फल क्या हुआ आत्मज्ञान का फल कहते हैं अस्मा शरीर भेदा पूर्वम उत्पन्न ये शरीर बुद्धि से ऊपर उठ करके भावना पतंग गई बुद्धि उठना माने को तो यहां से शरीर से जहर खिला के आत्मा को अलग करना नहीं है भावना बदल गई मैं सच्चिदाभन आत्मा हूं मृत्यु में पहुंच गया ये शरीर जो नाशवान शरीर है इससे ऊपर उठ कर मैं अविनाशी हूं ये विनाशी है ऐसा देख पड़ा हमको इस शरीर विशेष से ऊर्धम उत्क्रम मैं ऊपर उठ कर शरीर भावना को परित्याग करके क्या हुआ बता उत्तम उत्तर में निकल करके यहां से अमुस्लिम स्वर्गीय लोग है वो जो स्वर्ग लोग है दूर में क्यों इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है इसलिए परोक्ष रूप से कहा यहां स्वर्ग माने आत्मा कोई देवताओं का निवास स्वर्ग नहीं आत्मा है क्यों स्वर्ग शब्द का शब्द मीमांसकों ने ऐसा किया है यह न दुखे न संभिन्नम गत ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषो स सुख स्वपदास्पदम ऐसा यहाँ स्वर्ग ऐसा आत्मा है जिसमें दुख का नाम निशान नहीं है आत्मभाव में पहुंच जाएंगे तो दुख के नाम निशान नहीं दुख के नाम कहाँ तक है फूल शरीर सूक्ष्म शरीर के घेरे में जब तक है तब तक तो हम दुखी होते हैं सुसुप्त में भी दुख नहीं है जो कारण शरीर के घेरे में जाते हैं वहां भी दुख नहीं मिलता ये जागृत स्वप्न में है जो कुछ है फूल शरीर सूक्ष्म शरीर के दायरे में हमारा जब तक जीवन होगा तब तक हमें दुख है वो तो कारण से किसी ऊपर का भाव है आत्मभाव यंग दुखे न संभिन्नम दुख का नाम निशान जहां नहीं है न तो ग्रस्त महांतर एक बार मिलने के बाद ग्रसित भी नहीं होगा नाश भी नहीं होगा ऐसा सुख है सुख स्वरूप आत्मा है आनंदो ब्रह्मेद भी जाना आनंद है आनंद रूप सुख रूप है यंग दुखे न संभिन्नम न तो ग्रस्त महांतरम अभिलाषोपनीतम सबकी अभिलाषा होती है सब चाहते हैं अक्षय सुख चाहते हैं विनाशी सुख कोई भी नहीं चाहते अक्षय सुख सर्व आत्मा ही होता है अभिलाषा के चंद्र वही है सब चाहते हैं दुखम में माँ भूत सुखम में भूत सब चाहते हैं मुझे दुख कभी न हो सुख हो ऐसा चाहते हैं और अक्षय सुख चाहते हैं सबकी चाहना ये तो अभिलाषो पंडितम च सुखम स्वपदास्पद वही सुख विशेष को स्वपद का आस्पद स्वर्ग पद का आस्पद कहा गया स्थान आत्मा ही यहां स्वर्ग शब्द आता है अमुष में स्वर्गीय लोके कहा अमुष ने कहा इंद्रियों का वो विषय नहीं है प्रत्यक्ष नहीं होता इंद्रियों के द्वारा इसलिए अलस शब्द का प्रयोग कर दिया अयम इस अस्मत शब्द इदम शब्द का प्रयोग न करके अमुष ने कहा वो स्वर्ग लोग इंद्रियों के माध्यम से दूर है इसलिए ऐसा कहा नया आत्मा है उसमें सर्वान कामान आपका अमृत समर्पण सारे विषयों को प्राप्त करते जाते सारे विषय प्राप्त करना मैंने क्या प्राप्त करेगा वहां माने सर्व विषय रूप हो गया है सर्वात्म भाव को प्राप्त हुआ परिचिन्न भाव में नहीं है इसलिए सर्वात्म भाव को हो गया तो सभी प्राप्त है इस रूप से प्राप्त है न कि अप्राप्त विषय की प्राप्ति नहीं उसको अप्राप्त कुछ भी नहीं है वो सर्वात्म भाव में है सबको आत्म रूप से जानता है भिन्न रूप से नहीं बनता हाँ, इसलिए वह सर्व विषय की प्राप्ति कहा वास्तविक प्राप्ति नहीं सर्वान कामान आप तो सभी विषयों को प्राप्त करके काम्यंत यदि काम विषय काम काम शब्द का तो विषय सभी विषयों को प्राप्त करता होगा अमृता समुद्र अमर हो गया वो पहले मैं मरने वाला हूं बोलता था शरीर भाव में रहते समय में परिचय देता था मेरी मृत्यु निकट है ऐसा बोलता था वो शरीर के मृत्यु को अपना मृत्यु समझता था अज्ञान के बल से आज शरीर लाभ से ऊपर उठा तो अमृत समर सम्यक प्रकार से अमर हो गया मैं मरने वाला नहीं ऐसे रहे थे आत्मा भाव में पहुंचा तो अमर भाव को अपना ज्ञान प्राप्त किया अमृता समभवत अमृता समवत या अध्याय समाप्ति के लिए जो बात एक नंबर की टिप्पणी है स एवं विद्वान अस्मात शरीर अस्मात यहां अन्वय करना कहते हैं सर्वान कामान आत्मा का पहले करना उसके बाद हम उसमें स्वर्गीय लोके अमृता समवत बाद में अन्वय करना यहाँ यद्यपि आगे पीछे है पहले स्वर्ग में मिलना उसके बाद सर्व काम प्राप्त होना ऐसा नहीं माने जीवन मुक्त अवस्था में तब सारे विषय स्वरूप होकर के अभिन्न होकर के विषय प्राप्त किया था उसके बाद में कैवल्य मुक्ति हो जाएगी उसकी विदेह मुक्ति काल में अमर हो जाएगी ये कहना है ये टिप्पण काल लगाना चाहते हैं अस्मात शरीर भेदात ऊर्धम उत्क्रम है इस शरीर भाव से ऊपर उठ करके अहम न हम देह न मे देह इस भावना में पहुंच करके मैं शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं मैं असंग आत्मा हूं इस भाव में पहुंचना ये ऊपर उठना है भावना बदलने शरीर बदलना नहीं है भावना बदलनी अस्मात शरीर भेदात ऊर्धम उत्क्रम्य इस शरीर विशेष से ऊपर उठ करके आत्मभाव में पहुंच करके अमुष्मिन स्वर्गीय लोग अमृता समभवत इति विदेह मुक्ति उस वो स्वर्गलोक में वो आत्मलोक में जो आत्मभाव में पहुंचा स्वर्ग माने आत्मा है यहां उसमें अमृता सम अमर हो गया वो देव ऋषि अमर हो गए ऐसा बोलता ये विदेह मुक्ति की चर्चा है अमृता समभवत के द्वारा विदेह मुक्ति की चर्चा है और सर्वान कामन आत्वा की जीवन मुक्ति और सर्वान कामन आत्वा वो जीवन मुक्ति की चर्चा है तथा च इत्थम अत्वान इसलिए ये मंत्र का संबंध ऐसा करना सर्वान कामन आत्वा को पहले रखना और अमृत समाभवत को स्वर्ग लोग अमृत समाध बाद देना अन्य ऐसा बनाना ये बोलते कैसा करना इस मंत्र का स एवं विद्वान यदि तो जैसा वैसे रहेगा स एवं विद्वान यही व सर्वान कामान आत्वा इस शरीर में रहते रहते ही मानी जीवन मुक्ति अवस्था में ही सर्वान कामान आत्मा सारे विषयों को प्राप्त कर विषय प्राप्त करना माने वो सर्वात्म भाव में पहुंचा हुआ है ये नहीं कि पहले जैसे अपने से भिन्न विषय को प्राप्त करता था ये नहीं है या गौण प्रयोग है सभी विषयों को प्राप्त कर गौण प्रयोग क्यों वो सर्वात्म रूप में है वो संपूर्ण को आत्मस्वरूप से देख रहा है तो वो सब उसके मिला हुआ ही होता है उसका इसलिए आप तो आपका प्रयोग कर प्राप्त किया करके याद किया वास्तव में प्राप्त होता नहीं अपने से भिन्न वस्तु की प्राप्त होती है उसके दृष्टि में सारे अभिन्न हो गए हैं कहां से प्राप्त करें तो उसे अभिन्न होने के कारण मिला हुआ मान करके प्राप्त होगा आप तो कहा यही वह सर्वान कामान आपका माने जीवन मुक्ति काल में ही सारे को प्राप्त करके अस्मात शरीर भेदाभूतम यह शरीर विनाश के पश्चात शरीर विनाश के बाद विदेह का यही होगा जो चर्चा है ना जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति यही है ऊर्धम उत्क्रम्य शरीर भाव से ऊपर उठ करके ऊपर उठकर अमुस्मिन स्वर्गीय लोके अमृत संभवत ऐसा नहीं होगा वो स्वर्गलोक माने आत्मलोक उस आत्मभाव में जाने पर वही स्वर्गलोक है यहाँ वेदांत का स्वर्ग आत्मा अमृत अमर हो गए कामदेव यह अन्वय ऐसा करना ये बताया ठीक है देखिए ज्ञान से अभ्यचरित फल तो ज्ञापनाय वामदेव ज्ञान फलम प्राप्त वक्तुम सएव विद्वान वाक्य व्याप्त ज्ञान का फल व्यभिचारी नहीं होता कभी हो कभी न हो ऐसा नहीं ज्ञान का फल अवश्य होता है अब व्यभिचारी फल होता है ज्ञान होगा तो आपके आत्मभाव में जरूर पहुंचेंगे आप आत्मज्ञान होने पर फिर मनुष्य भाव में नहीं रहेंगे आत्मभाव में पहुंचेंगे अब फल है व्यविचारी फल नहीं है ज्ञान से अव्यविचरित फल तो बनाता आसन ज्ञान का फल अव्यविचरित होता है व्यविचारी फल नहीं होता अवश्य भावी होगा ये ज्ञापन करने के लिए वामदेव ने ज्ञान फलम प्राप्त हम वामदेव जी ऋषि ने ज्ञान का फल प्राप्त किया ये बोलना चाहते ज्ञान का फल क्या अमृत हो गए अमर हो गए एक क्षण पहले अपने को मरने वाले समझते थे कि तब शरीर भावना में थे शरीर भाव से ऊपर हो गए अमर हो गए आत्मा मरने वाला ऐसी भाव तो ज्ञान अश्य अव्यक्त फल तो ज्ञापन आया ज्ञान का फल अव्यक्तरित होता है व्यविचारी नहीं होता इसको ज्ञापन करने के लिए वामदेव ने ज्ञान फल प्राप्त विद्वान ये बोलना चाहते हैं रामदेव जी ने ज्ञान का फल प्राप्त किया ये कहने के लिए स एवं विद्वान इति वाक्य व्याचस्ट स एवं विद्वान ये वाक्य है रामदेव जी ने कैसे ज्ञान का फल प्राप्त किया दिखाने का इसका व्याख्या करते हैं भाष्यकार स वामदेव इत्यादि कहा स वामदेव वो जो वामदेव ऋषि हैं पूर्व मंत्र में कथित वामदेव ऋषि यथोक्तम आत्मान एवं विद्वान जैसा आत्मा के स्वरूप है आत्मा कैसे पहले अध्यारोप किया गया था बाद में अपवाद आरोप था जैसे आत्मा में सारे आरोप किया था सबसे पहले आत्मा ही था करके दिखाया था आत्मा भाई इधमेक एक आशित नान्यत यहाँ से आरंभ हुआ था बीज में सारी सृष्टि दिखाई कोई साधन नहीं था कुछ नहीं था कहां से आए विवर्तवाद था परिणाम नहीं था यह समझना है कल्पना थी सारी क्यों उसी आत्मा को बताने फिर अंतिम में स एकम एवं पुरुषम ब्रह्म तत्व अपश्यत इदम समिति ऐसा है यह अपवाद बताया यही यथोक्त आत्मा है ये कहना चाहते हैं स ऋषि यथोक्तम आत्मा यथोक्त आत्मा तो पूर्वोक्त आत्मा जिस आत्मा की चर्चा हुई है एवं विद्वान इस प्रकार से जानने वाले आत्मा के स्वरूप को जिन्होंने पहचान लिया अपना स्वरूप पहचान लिया ऐसे विद्वान एवं विद्वान मैंने तीन नंबर की टिप्पणी कहते हैं एवं मंत्रोक्त प्रप्रागण मंत्र में जैसे कहा इस प्रकार जाना उन्होंने आत्मा को जाना गर्भ में रहते हुए ही इस प्रकार से मैंने सारे देवताओं के जन्मों को देखा ऐसा इस प्रकार से समझा ऐसा एवं प्रकार अस्मात शरीर भेदा ये शरीर विशेष से मैं मनुष्य हूं कहने में बैठे थे वो शरीर विशेष में थे वो मैं मनुष्य हूं कहना शरीर विशेष होना यहां से ऊपर उठना मैं सच्चिदा आत्मा उस बात में पहुंचे यही बात अस्मात शरीर भेदात शरीर से क्यों शरीर से कैसे उठे वो शरीर अविद्या कल्पित है वास्तव में शरीर होता तो यहां से उठना बनता नहीं था कल्पना है शरीर की एक क्या वास्तव में शरीर नहीं है कल्पना है अस्मात शरीर भेदात शरीर से अविद्या परिकल्पित अच्छा। शरीर क्या है अविद्या के द्वारा कल्पित है अज्ञान के द्वारा कल्पित है आत्मा शरीर रूप में दिख रहा होती है रज्जू अज्ञान के कारण से सर्प रूप में दिखता है ये अविद्या के द्वारा कल्पित है सर्प वैसे यहां भी अधिष्ठान आत्मा है क्यों आत्मा वही अग्रे एक आशीष नांदेड़ तीन किलोमीटर यहां से शुरू हुआ है आत्मा ही था शरीर था ही कहां से आया शरीर जैसे सर्प कल्पना करने के पूर्व में रज्जु ही होती है सर्प की हम कल्पना करते किस कारण अज्ञान के कारण रज्जु का ज्ञान तो आत्मा के अज्ञान से शरीर पैदा हुआ है मान्यता आई है इसमें ये दिखाना चाहते हैं सभाव रेव ऋषिर यथोक्तम आत्मान एवं विद्वान इस प्रकार से पूर्वोक्त मंत्र के आधार पर अपने स्वरूप को जानने वाले विद्वान अस्मा शरीर भेदात इस शरीर भेद से शरीर से अविद्या परिकल्पित ये जो शरीर है अज्ञान के द्वारा कल्पित है ये शरीर ये शरीर कैसा है आयसम दीर्भेद्य जैसे लोहे की श्रृंखला होती है आयस्य आयसो आयस संबंधी का आयस अण प्रत्यय लगाया आय संबंधी आय संबंधी है वो इसे आय आय शब्द लोहे के जंजीर के समान अभेद्य है लोहे के जंजीर तोड़ना इतना सरल नहीं होता बहुत मुश्किल होता है बड़े बड़े कारागार में बड़े बड़े कैदियों को उस जंजीर डाला जाता है लोहे के जंजीर डाल देते हैं इसी प्रकार उसी के समान निर्भेद्य इसको तोड़ना संभव नहीं इसकी इतनी ममता है इसमें ममता भी है ममता भी दोनों इसमें कभी अहम करके बोलता है कभी मम बोलता है मैं बीमार हूं बोलता है वहां अहम लगाता है मैं बीमार हूं ऐसा बोलता है और मेरे सिर में दर्द है कभी ममता लगाता है मेरा बोलता है कभी मेरे हाथ में दर्द है मेरे पैर में दर्द है कभी मैं बीमार हूं बोलता है दोनों लगाता है मैं भी लगाता है मेरा भी लगाता है अहमता ममता दोनों यही श्रृंखला है इसकी आयसवत निर्भेद जैसे जैसे लोहे के संकल्प को तोड़ना बड़ा मुश्किल है इसी प्रकार इसको तोड़ना भी मुश्किल है इसमें आत्मभाव का परित्याग करना बड़ा मुश्किल है ये जो आत्मभाव करना हुआ यही है श्रृंखला का कैसी परिस्थिति में भी इसी को बचाने के चक्कर में होता है आत्मबुद्धि जाती नहीं कितने दिनों से वेदांत सुन रहे हैं फिर भी मैं मनुष्य तो में पना खो नहीं रहा यही है लोहे की श्रृंखला आयसवत निर्भेद्य से जैसे लोहे के जंजीर का तोड़ना संभव नहीं इसी प्रकार इसके संबंध टूटा नहीं है का संबंध इतना गहरा बना हुआ है ऐसा ऐसे शरीर है जनन आदि अनेक अनर्थ सतह आविष्ट शरीर प्रबंध शरीर कैसा है बार बार जन्मना मरना ये लगा हुआ है जन्म और अनेक प्रकार के अनर्थों के घेरे में है एक नहीं जन्म वाले कितने रोग है शोक है न जाने क्या क्या आएगा इसमें तो बहुत कष्ट है जन्म का कष्ट जरा अवस्था का कष्ट मरण का कष्ट जन्म दुखम जरा दुखम व्याधि दुखम तथई बच अंतकाले महत दुखम तस्मात जागृही जागृही शंकराचार्य नीचे जागृही जागृही करके जन्म का दुख वृद्ध अवस्था का दुख और रोगों का दुख व्याधि दुखम तथई बच अंतकाल के जो दुख कहते हैं अंतिम समय में सौ बिच्छू का जो डंका एक साथ पड़ जाए एक ही बिच्छू के डंका में व्यक्ति परेशान होता असह्य होता है सौ विश्व का डंकर का जितना सहन कर सकता हो असह्यता हो उतनी असह्यता होती तो नहीं ऐसा शास्त्र बोलता है जरूर पुराण आदमी है ऐसा तो ये जन्म जरा मरण आदि जन्म है जरा है मरण है रोग है शोक है नाना प्रकार के अनेक अनर्थों के घेरे में पड़ा हुआ है शरीर उसमें युक्त है शरीर अनेक अनर्थ सदा आविष्ट शरीर प्रबंध शरीर का जो प्रवाह चल रहा है एक शरीर पकड़ो कोई जन्म मरण जरा यही घटना हो उसमें दूसरा शरीर पकड़ो वही होना उसमें भी यही प्रबंध है इसका प्रबंध से मान प्रवाह से परमात्मा ज्ञान अमृत तो उपयोग जनित वीर कृत भेदा ये शरीर का विनाश कैसे किया रामदेव जी ने कहते आत्मबुद्धि में चले गए वो शरीर बुद्धि से ऊपर उठ गए ये कहते हैं ऐसे शरीर को तोड़ डाला उन्होंने ये बोलना चाहते परमात्मा ज्ञान अमृत उपयोग परमात्मा ज्ञान रूपी जो अमृत के उपयोग है माने अभ्यास है परमात्मा का ज्ञान अहम ब्रह्मास्म ज्ञान का जो अभ्यास है वो तो अमृत ज्ञान है वो उसके जो उपयोग अमृत का उपयोग किया उन्होंने ज्ञानामृत का उपयोग किया मैं ब्रह्म हूं मैं सचिदान आत्मा हूं ऐसे ज्ञान का उन्होंने अभ्यास किया उपयोग किया उसी के द्वारा उत्पन्न जो सामर्थ्य है शरीर आपके अंतकरण में सामर्थ्य आया नायम आत्मा बलहीन न लभ्य ऐसा आया है या आत्मा बलहीन को मिलने वाला नहीं है बलहीन माने हाथी को मिलेगा नहीं मनोबल चाहिए जैसे अभी अहम मनुष्य वैसे अहम ब्रह्म हम सच्चिदानंद आत्मा ऐसे मनोबल चाहिए मनोबल नहीं हुआ तो आत्मा नहीं मिलेगा नायम आत्मा बलहीन होने लगती ऐसा तो परमात्मा ज्ञान रूपी जो अमृत है उसके उप, उपयोग माने होगा अभ्यास हम ब्रह्मास्म ऐसे अभ्यास किया उसको वामदेव उसके द्वारा उत्पन्न एक सामर्थ्य आया उसके मनो, मनोबल चला धीरे रात उसके द्वारा शरीर नाश हो गया शरीर बुद्धि हट गई यही शरीर भिन्न होना शरीर उत्पत्ति बीज अविद्यादि निमित्त दो निमित्त उपमर्द हेतु तो हो शरीर के जो उत्पत्ति का बीज था अविद्या अविद्या काम कर्म यही तो थे शरीर का उत्पत्ति का कारण उसमें एक ज्ञानामृत रूपी अभ्यास चलाने से अविद्या के द्वारा होने वाला जो शरीर के उत्पत्ति के बीज थे बीज अविद्यादि है अविद्या है काम है कर्म है यही निमित्त का उपमर्द इसका नाश होने से नाश होने के कारण से अविद्यादि नाश हो गया आत्मज्ञान होने से इसी कारण से शरीर विनाशा तहत शरीर विनाश के ऊर्वम पश्चात आत्मज्ञान के बल से आत्मभाव में पहुंच गए शरीर विनाश अविद्या के द्वारा ये कल्पित था ज्ञान हो गया तो ये खोगा ये रज्जु का ज्ञान होता है तो सर्प खो जाता है रज्जु के अज्ञान से जो बना हुआ सर्प था रज्जु के ज्ञान काल में खो जाता है उसी प्रकार शरीर बुद्धि से ऊपर हो जाता ऊर्भ मान परमात्म होता शरीर भाव से ऊपर उठा तो परमात्मा रूप हो गए आत्म रूप हो गए परमात्मा होता सन परमात्मा होता हुआ होते हुए रामदेव भवात संसारात उत्क्रम नीचे होने वाले जो संसार शरीर आदि निकृष्ट भाव उससे उठ करके आत्मभाव में पहुंच गए हम सच्चिदान ब्रह्मात्मा ऐसी भावना में संसारात उत्क्रम संसार से ऊपर उठ करके ज्ञान अवद्योतित अमल सर्वात्म भाव वापन्न ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होने वाला जो निर्बल है आत्मा ज्ञान है ना अवद्योतिता प्रकाशित है आत्मा ज्ञान से ही प्रकाशित होगा भौतिक प्रकाश से आत्मा प्रकाशित नहीं होता प्रकाश दो तरह के प्रकाश हैं अंधेरे में घट रखा है तो उसके लिए भौतिक प्रकाश चाहिए आपको टॉर्च आदि विद्युत आदि से प्रकाशित हो जाएगा वो तो भौतिक आकाश प्रकाश उसके द्वारा वस्तु प्रकाशित होता है वो तो अंधेरे से ढका हुआ था किंतु अज्ञान से ढका हुआ पुस्तक का ज्ञान मुझे नहीं है इसका मुझे ज्ञान नहीं है मैंने मेरे अज्ञान से ढका हुआ है तो इसके लिए टॉर्च जलाने से अज्ञान नाश हो जाएगा इसको तो क्या चाहिए इसका ज्ञान चाहिए जैसे भौतिक प्रकाश अधेरे को दूर करता है ढकने वाला अंधेरा होता है तो अज्ञान भी ढकने वाला होता है किसको ढकता है आत्मा को ढकता है वस्तु को ढकता है मान वस्तु का जो अज्ञान होना वो ढकना है इसलिए क्या होगा वहां पर ज्ञान की ज्ञान रूपी प्रकाश से वो अंधेरा भगेगा ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए तो अविद्या जो है अज्ञान है वस्तु को ढकने वाली है आत्मा को ढकने वाली थी आज आत्मा का ज्ञान हो गया तो हट गई वो अगर अभक्त गया एक कहा चाह रहे एक कहा उर्व माने परमात्मा होता ऊपर उठा उठता परमात्मा स्वरूप होता होते हुए अदो भगवान संसार आपको नीचे है परमात्मा की अपेक्षा नीचे निकृष्ट है संसार निकृष्ट जो तो संसार शरीर आदि है उत्तर में ऊपर उठ करके शरीर आदि शुरू उठकर ज्ञान अवधोतित अमल सर्वात्म भाव में अभाव ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होने वाला जो निर्बल सर्वात्म भाव है उसको प्राप्त हो जाएगा तो ज्ञान के द्वारा ही होता है ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होने वाला अवधोतित प्रकाशित होने वाला द्वित द्युक्त जो है अवधोतित प्रकाशित हुआ जो अमल है निर्मल है ऐसे सर्वात्म भाव को प्राप्त हो गए कौन राम एक नंबर चित्र में कहा अवधोतित में निराकृत आवरण जब ज्ञान रूपी प्रकाश जग गया तो आवरण जो अविद्या आदि हट गए निराकृत आवरण हो ऐसे होती यहां से उठने के बाद क्या हुआ तो कहते हैं अमुष्मन यथोक् अजरे अमरे अमृते अभय जो पूर्वोक्त आत्मा है जो स्वर्ग है यहाँ ऐसा है पूर्वोक्त कहा गया जो अजर है अमर है कभी वृद्ध नहीं होता मरता भी नहीं हाँ अमर है अमृत अमृत स्वरूप है अमरण स्वरूप है ऐसा अभय है भय रहित है सर्वज्ञ है और अपूर्व अनपरे जिसका पूर्व में होता है सपूर्व होगा जिसके पूर्व में नहीं होगा वो अपूर्व माने कार्य नहीं होगा कार्य के पूर्व में कुछ होता है कारण होता है किंतु आत्मा के पहले कोई कारण नहीं और तो आत्मा कार्य जैसे अपूर्व है आत्मा कार्य रूप नहीं है और अनपरे जिसका पर्व होता है वो सपर होगा कारण को सपर बोले पर्व होता है उसका पहले है बाद में दूसरा आएगा आत्मा है अनपर मैंने कारण रहित है कार्य रहित उसका कार्य भी नहीं है आत्मा किसी का कारण भी नहीं बनता और किसी का कार्य भी नहीं होता ऐसा है आत्मा अपूर्व अनपर अनंतरे आई है जो भीतर बाहर सर्वत्र है न भीतर न बाहर बोलना भी नहीं बनता जिसका सर्वत्र व्यापक है ऐसे आत्मा प्रज्ञान अमृतक एक रस है ज्ञानामृत ज्ञान स्वरूप अमृत स्वरूप एक रस है हमेशा ज्ञान स्वरूप ही रहेगा वो एक रस है उसका स्वरूप में कभी घटना बढ़ना नहीं होता हमेशा ज्ञान स्वरूप है सत्यम ज्ञान मनंदम ब्रह्म आत्मा का लक्षण ज्ञान एक प्रदीपवत निर्वाण प्रदीपवत निर्वाण अत्यगात वो बामदेव ऋषि दीपक के समान निर्वाण को प्राप्त हो गए जैसे दीपक घूसता है तो कहां कहा जाता है दीपक माने एक विशेष तेज था ज्वाला विशेष तेज है सामान्य तेज में उसको लीन होना है इसी प्रकार वामदेव नाम के ऋषि अभी विशेष रूप में दिखाई पड़ते थे सविता शरीरादिवाद में जीवात्मा भाव से दिखते थे और सामान्य आत्मा में निर्विशेष आत्मा में दिखते थे जब दीपक जब भूजता है तो कहीं गति नहीं होती उसके कहीं जाता नहीं वो दीपक मान दीपक माने प्रकाश विशेष प्रकाश था तेल बाती आदि के माध्यम से विशेष ज्वाला के रूप में हमें हमारे सामने भाषित हो रहा था जो बुझे तो क्या मानना होगा सामान्य तेज में तो तेज प्राप्त आ गया तेज रूप मिला यही मानना होगा मिलना भी है तेज स्वरूप ही है वैसे यहां भी जो विशेष रूप से जीव रूप में था अब सामान्य तेज आत्म रूप में हो जाएगा प्रदीप वक्त जैसे दीपक के निर्वाण होना होता है इसी प्रकार तो वामदेव ऋषि अत्यगमत वो भी निर्वाण निर्वाण को प्राप्त हो गया बाण माने शरीर बाण रहित हो गए शरीर रहित हो बाद अभिगंधन धातु से युद्ध करेंगे तो बाण बनता है हम्म। इसका गति गमन भी होता है इसमें और गंध भी है इसमें दोनों अर्थ करता है इसीलिए युद्ध प्रत्यय करके बाण शब्द बना देते तो निर्वाणम निर्गता निर्गतम बाणम यशमात सा निर्वाणम जिसे बाण निकल गया शरीर निकल गया शरीर भाव से ऊपर हो गया अत्यगमत शरीर भाव से ऊपर उठ गए स्वर्गीय लोगे कहा स्वर्ग लोक माने क्या है कहते स्वस्मिन आत्मा अपने आत्मा में कोई प्राप्त हुए ये नहीं कि स्वर्ग लोग जैसे पुराण के स्वर्ग यहां नहीं पौराणिक स्वर्ग यहाँ नहीं है स्वर्ग करता था स्वर्गीय लोग मैंने स्वस्मिन आत्मा अपने आत्मा में पहुंच गए वो पहले शरीर में आत्मभाव में थे अब उसको छोड़ दिया अनात्मा में आत्मभाव माना था छोड़ दिया अपने स्वरूप में हो गए यही स्वरूप अपने स्वरूप में ही अमृता समाभवत अमर हो गए पहले मत मरने वाला समझते थे शरीर भाव में होने पर शरीर भाव को त्याग दिया तो अपना अमर समझते थे आत्मज्ञान है ना आत्मज्ञान के द्वारा या आत्मज्ञान है सप्तमी ने तृतीयांत है आत्मज्ञान है ना आत्मज्ञान के द्वारा हम्म, अमृता संभव आत्मज्ञान जो भी साधन है उनके पास उसके द्वारा अमृत हो गए कहा इधर टिप्पणी थी एक तीन नंबर प्रदीप प्रदीप निर्वाण तेज सामान्य है प्रदीप का निर्माण होना माने विशेष तेज था प्रतीक वो तेज सामान्य की प्राप्ति होना उसको तो तेज में लीन होना वो तेज स्वरूप ही है वो विशेष तेज रूप में था दीपक बाती के कारण से तेल बाती के कारण से ज्वाला विशेष दिखाई दिया था और सामान्य तेज रूप हो जाना वैसे यहां भी विशेष रूप में था शरीर आदि विशिष्ट होकर के भाष रहा था जीव कहला था कहला रहा था क्योंकि शरीर बात को छोड़ दिया तो वही निर्विशेष आत्मरूप स्वरूप तो वही है उसका यही काम ये कह रहे हैं सामान्यवती दाष्टान्तिक है यहाँ दाष्टांतिक में आत्मा के बारे में है यहाँ प्रदीप निर्वाण के समान आत्माभाव को प्राप्त हो गए तो दृष्टांत हो गया प्रदीप और दाष्टान्तिक आत्मा आत्मा में क्या करेंगे चित्त सामान्य सामान्य चेतन हो गया पहले विशिष्ट चेतन हो गए दिख रहे थे शरीर भाव से अब सामान्य चेतन हो जाता है सामान्य चेतन हो जाता है इदम से अमृता समभव इत्य व्याख्यान में प्रस्ताव करता हूं इसलिए क्या करना चाहिए कहते हैं इदम अमृत समभवत इसका व्याख्या है ये जो आगे वाक्य आना है अमृता समभवत वाक्य आगे आना है उसकी व्याख्या है ये किंतु पहले पढ़ा गया है भाषण में पहले पढ़ा गया ये व्याख्या उसकी है अमृता समभवत की व्याख्या अमर हो गए जाने क्या अमर हो गए सिर्फ सामान्य पति को प्राप्त हो गए यह अर्थ वहां घटना है इदम च अमृता समबद्ध इत्यस्य व्याख्यान जो अमृता समबद्ध वाक्य आगे आने वाला है उसके लिए व्याख्या है ये किंतु पुरस्कार पठितम पहले पढ़ा गया है भाषण में पहले पढ़ा गया ये कहा अच्छा। कहा स्वस्मिन आत्मा ने स्वे स्वरूप कहा अपने स्वरूप में अमृता संपत आत्मज्ञान है न पांच नंबर के आत्मज्ञान है न विदेह मुक्ति में व्याख्या जीवन मुक्ति व्याचटेगा या भाष्य में जैसा मंत्र में जैसा है वैसे भाष्यकार चल रहे हैं पहले विदेह मुक्ति की चर्चा हुआ उसके बाद सर्वान कामान तो बाद में है तो विदेह मुक्ति को कहने के बाद में जीवन मुक्ति बाद में चर्चा कर रहे हैं यदि उल्टा है अर्थ करते समय पहले जीवन मुक्ति बाद में विदेह मुक्ति है क्योंकि मंत्र में ऐसे लिखा है जो मंत्र में ना हम उसमें स्वर्गीय लोके सर्वान कामान तो अमृत सम्मति इत्यादि है पहले स्वर्ग लोग फिर बाद में सर्वान कामन आपको ये कह रहे हैं टिप्पणी का ये बात नोट में कहा विदेह मुक्ति व्याख्या है अब तक विदेह मुक्ति व्याख्या हो गई विदेह मुक्ति की अब जीवन मुक्ति है आत्मज्ञान है ना इत्यादि कहा आत्मज्ञान है ना पूर्वम समाप्त सम्यक काम होता आत्मज्ञान के द्वारा क्या किया पहले ही माने जीवन मुक्ति काल में ही सम्यक काम होता प्राप्त काम प्राप्त विषय का प्राप्त काम माने क्या है तो छह नंबर के पढ़े कहते हैं सर्वत्र स्व अभेद दर्शन है सर्वत्र अपने से भिन्न नहीं दिखता मैं ही सब कुछ हूं ऐसी भावना हो गई सर्वत्र स्व अभेद दर्शनात् सर्वत्र अपने से अभेद दर्शन के कारण से सकल काम अभावेण कोई काम है ही नहीं उनके पास सभी अभेद हो गए कामना होती है अपने से भिन्न की इच्छा होती है स्वयं सर्वरूप हो गए वो किसकी इच्छा करेंगे स्थिति में सर्वत्र अवैध दर्शन सर्वत्र अपना अवैध दर्शन के द्वारा सकल काम अभाव है कोई काम है नहीं विषय है नहीं उनके सामने सब आत्मरूप हो गए इसलिए एक एवं आप तक कामता यही सबका विषय का अभाव होना ही आप तक कामता है यहां विषय प्राप्त करना नहीं है ज्ञानी का ऐसा आप तक काम तो अज्ञानी का तो अपने से भिन्न विषय की प्राप्त करना आपका काम होगा किंतु ज्ञानी का आपका काम ऐसा क्यों अपने से भिन्न कुछ होता ही नहीं है तो सबके साथ अवैध हो गया अवैध होने से विषय अभाव होने से आपका काम होता तो ये तो ज्ञानी के लिए ऐसा है कहा भाष्य में कहते हैं पूर्वम ज्ञान ज्ञान न पूर्वम सम्यक तक काम तो या जीवन एवं जीते जी यानी जीवन मुक्ति की चर्चा है सर्वान कामन आपका एक जीते जी सभी विषयों को प्राप्त करके माने सर्वरूप होकर के सर्वान काम अप्राप्त सात नंबर की टिप्पणी कहा सर्वान सर्व काम से सारे कामनाओं की प्राप्ति क्या कहेंगे फिर उसको तब कहा काम्यमान सर्व क्षुद्र क्षुद्रानंदानाम स्वलब्ध भूमानंद अंतर्भाव एवं अवगत किया सर्व काम की आपकी क्या है काम्यमान जो सारे के सारे विषयों की क्षुद्र आनंद है क्षुद्र सुख है विषय जन्य सुख वह समुद्र स्थान ये जो भूमानंद आत्मानंद है उसमें उपलब्ध है मान समुद्र स्नान किया तो सारे तीर्थों का स्नान हो जाता है हाथी के पैर के दर्शन हुआ तो सारे पशुओं के दर्शन पैरों का दर्शन हो गया क्यों हाथी के पैर से बड़ा पैर किसी का है नहीं सबका पैर उसी में समावेश है सबको भोग है सबको पैर को जान लेता है इसी प्रकार जब आत्मानंद भूमानंद व्यापक आनंद प्राप्त कर लिया आत्मानंद तो शूद्र सुख उसमें मिला हुआ ही हो गया ये कहा सर्वान कामान आपका साथ द्विर्वचनम सफल से सोदाहरण से आत्मज्ञान से परिसमाप्त परिवर्तना जो दो बार कहा समभवत समभवत क्यों कहा कहते हैं फल के सहित फल यहां मोक्ष होना है आत्मज्ञान से परमात्मा भाव को प्राप्त होना फल के सहित स्व उदाहरण से उदाहरण के सहित उदाहरण में सहित स्वदाहरण उदाहरण के उदाहरण किसके दिया वामदेव जी का दिया स्वदाहरण से आत्मज्ञान से परिसमाप्ति आत्मज्ञान की उदाहरण के साथ सब फल के साथ समाप्ति दिखा इसलिए दो बात संभव संभव कहा एक ठीक है शरीर से पुनर्उत्पत्ति संक्रांत आ रही थी चलो पहले भी ऐसे शरीर नष्ट होता रहा फिर बाद में उत्पन्न होता है अब के बाद भी ऐसे होगा पहले जैसा होता था बार बार मरता था बार बार पैदा होता था तो जैसे अब के बाद भी शरीर नाश हो गया उसके बाद फिर शरीर होगा दोबारा शंका हो गई शरीर से पुनर्उत्पत्ति संक्रांत आ रही थी शरीर की पुनरुत्पत्ति शंका की निवारण करते हैं शरीर उत्पन्न होना संभव नहीं क्या बोलते हैं शरीर उत्पत्ति बीज अविद्यादि निमित्त निमित्त उपमर्द हेतु हो कहा उसका उपमर्दन हो चुका है शरीर की उत्पत्ति के जो बीज अविद्यादि थे उनका नाश हो चुका है किसके द्वारा आत्मज्ञान के द्वारा अब शरीर होने वाला नहीं है बीज रहता तो होता अंकुर आता बीज ही नहीं है अविद्यादि नष्ट हो चुके हैं जो शरीर उत्पत्ति के कारण थे वो है ही नहीं इसलिए आगे शरीर होना संभव देखा कहा इसलिए कहा शरीर उत्पत्ति बीज अविद्यादि निमित्त निमित्त उपमर्द है तो अविद्यादि थे निमित्त उनके उपमर्दन हो गया नष्ट वो नाश हो गया उनका इसलिए आगे शरीर होना संभव नहीं उसका शरीर विनाश आगे होगा ठीक है तत्व ज्ञान है ना अविद्यादि नाशात इत्यर्थ ये अर्थ है तत्व ज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा अविद्यादि नाश हो चुके हैं इसलिए शरीर के कोई बीज रहा ही नहीं आगे शरीर होना संभव नहीं उसका आगे परमात्मा भूतासन इत्यादि गया था ऊर्धम ये शरीर से उठ करके ऊर्धम उठकर उठक्रम में कहा था तो क्या है ये इसका अर्थ करते हैं परमात्मा का ऊर्ध शब्द से उपरी वाचित्वा परमाणु वस्तु परमात्मा वस्तु में वह कदाचित अभी अधोभाव रूप निष्कर्षा भाव निधन कुश उपरितन भावात ऊर्ध शब्दार्थत्व परमात्मा में ऊर्ध शब्द का अर्थ कैसे कर दिया ऊर्ध का अर्थ परमात्मा को प्राप्त कैसे किया कहते हैं इसलिए किया है ऊर्ध शब्द से उपरितन वाचक ऊर्ध शब्द ऊपर के लिए प्रयोग होता है ऊर्ध माने ऊपर ऊर्ध शब्द उपरितन का वाचक है ऊपर का वाचक है परमात्मा वस्तु में एवं कदाचित अभी अधोभाव रूप निकर्ष अभाव है परमात्मा वस्तु जो होता है वो कभी भी कदाचित कभी भी निष्कर्ष हो नहीं सकता अधर नहीं हो सकता निष्कर्ष नहीं हो सकता निकर्ष नहीं हो सकता छोटा नहीं हो सकता तुच्छ नहीं हो सकता हो इसलिए ऊर्ध शब्द का अर्थ परमात्मा ये अर्थ किया निरंकुश उपरितन भाव परमात्मा शब्द ही निरंकुश ऊर्ध शब्द का मुख्य पाठ से कोई होता है निरंकुश उपरितन भाव उपरितन होने से ऊर्ध शब्दार्थत्म परमात्मा में ऊर्द शब्द घट जाता है इसलिए उर्द शब्द का अर्थ किया एक कहा चार नंबर की टिप्पणी निरंकुशतम निरतिशयत्व निरंकुश निरतिशय ऊर्धत्व उसी में है सर्वश्रेष्ठ है वो तत्व उत्कर्ष अपकर्ष राहित्य ये क्या है निरतिशयत्व क्या है उसमें उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है बाकी यहां से ऊपर कहेंगे किसी को तो उससे भी ऊपर कोई होगा साथ ही से उपरितन मिलेगा जहां भी जाएंगे संसार में हर वस्तु साक्षय होता है ये बड़ा है तो इसे बड़ा और होगा कोई हमारी अपेक्षा ही बड़ा है तो उसकी अपेक्षा कोई और बड़ा मिलेगा फिर उसकी अपेक्षा बड़ा मिलेगा उर्दो भी ऐसे ही है ये ऊपर है तो इस उसके ऊपर भी कोई होगा किंतु आत्मा में निरुत्साह तो क्या है उत्कर्ष अपकर्ष उत्कर्ष भी नहीं अपकर्ष यही है उर्दो सर्वकार को बताया ठीक है मैं आगे प्रसिद्धम स्वर्गलोकम थे यहाँ अमुष्मिन स्वर्गीय लोग माने जो प्रसिद्ध पुराण आदि में प्रसिद्ध स्वर्ग लोग है वो स्वर्ग लोग प्राप्त नहीं होता आत्मज्ञान से वो तो कर्म से प्राप्त करेगा कर्मा पितृलोक अग्निहोत्रादि कर्मों का फल मिलेगा वो वो लोग किंतु आत्मज्ञान से वो स्वर्ग नहीं दूसरा ही स्वर्ग है जैसे न दुखे न संभिन्नम न चक्रस्त महांतरम अभिलाषोपनितम स्वपदस सुखम स्वपदास्पदा स्वपद का आस्पद ये होता है मुख्य स्वर्ग ये होता है जिसको मिलने से जिसमें कोई दुख मिश्रण नहीं हो सकता या न दुखी न संभिनम न तो ग्रस्त मंत्र एक बार मिलेगा तो ग्रसित भी नहीं होगा वो स्वर्ग तो थोड़ी देर के बाद धक्का दे देते हैं छिड़े पुण्य करते लोग उसका भी स्थिति है किंतु यहां एक बार मिल गया तो मिल गया ऐसा स्वर्ग आएगा न दुखे न संभिनम न तो ग्रस्त अनंतरम अभिलाषों पर सब चाहते हैं सुखम में सुखम में भूया सुखम तो में माँ भूत ऐसा सबकी इच्छा होती तो है मुझे सुख हो सुख मिले सुख माने कैसे सुख चाहते क्षणिक सुख कोई नहीं चाहता फिर थाई सुख चाहता है थाई सुख स्वरूप ही है सबकी अभिलाषा है सुख वो सुख स्वरूप आत्मा है अभिलाष अच्छा? सुखम स्वपदास्पद वही सुख है स्वपद का आस्पद है स्वर्ग पद का आस्पद आस्पद है ऐसा कहा है ये कह रहे हैं स्वर्ग शब्द प्रसिद्धम सर्वलोकम बारहिति कहा अमुष्मिन यथोक्ते इत्यादि भाष्य में कहा अमुष्मिन यथोक्ते अजरे अमरे अमृते अभय इत्यादि कहा यह स्वर्ग है वो स्वर्गलोक अमुष्मिन कहा यह स्वर्ग नहीं वो स्वर्ग इंद्रियों का विषय नहीं है इसलिए ऐसा कहा अमुष्मिन यथोक्ते अजरे अमरे अजर अमर कभी बूढ़ा नहीं होता मरता नहीं अमृत है अमृत स्वरूप है इत्यादि अब माने अमृत का अर्थ अमरे का अर्थ अपरिणामी कहा का परिणाम नहीं होता जैसे दूध का दही बनता ऐसा नहीं होता एक रस है तो ऐसा स्वर्ग है वो सर्वज्ञ आदि कहा है ठीक है हम कहते हैं इंद्रिय अगोचरत्व और अमुष्मिन थी निर्देशा अमुष्मिन स्वर्ग क्यों कहा अदस शब्द का प्रयोग क्यों किया दूरस्थ का प्रयोग किया है दूर के लिए अदस शब्द का प्रयोग होता है अमुष्मिन उसमें ऐसा क्यों कहा कहते इंद्रिय का विषय न होने से आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है इंद्रिय से आत्मा देखना संभव नहीं है ये तो बाहर के विषयों के लिए इंद्रिय बनाई है आवृत्त चक्षु अमृतत्व विषय है इंद्रिय को मोड़ेगा वही आत्मा को जान पाएगा इंद्र का विषय इंद्रिया अगोचर इंद्रिय अगोचरत्व ना अमुस्मिन इंद्रिय अमुस्मिन इसलिए कहा है कि इंद्रिय का विषय न मनुष्य स्वर्ग शब्द से सुख सामान्य वाचित्वा ब्रह्मानंद से तथा विधत्वा तस्वीर सूक्ष्म स्वर्ग मुख्य स्वर्ग ब्रह्मानंद ही है ये गौण स्वर्ग है जो कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला स्वर्ग है गौण है मुख्य स्वर्ग तो क्यों स्वर्ग शब्द से निर्देश सामान्य बात स्वर्ग शब्द का मुख्य अर्थ होता है है सुख साध्य सुख नहीं जिस स्वर्ग में कर्म करते करके यहां से हम जाते हैं वहां भी साध्य सुख मिलेगा वहां भी यहाँ की जैसी व्यवस्था है यानी गरीब की व्यवस्था है वहां स्वर्ग पहुंचना एक अलग है वहां की व्यवस्था हो सकता है आपको झाड़ूदार का काम मिले वहां हो सकता इंद्र के सिंहासन मिले कर्म कैसा है आपका वहां व्यवस्था वैसी जैसी आगे हम लोग सभी उत्तरकाशी पहुंचे हैं किंतु सबको एक जैसी व्यवस्था नहीं है व्यवस्था में फर्क है वैसे वहां भी है तो निर्देश से सुख मिलना नहीं है वहां शादी से सुख ही मिलेगा जो जिस स्थान में आप पहुंचेंगे आप वहां दुखी रहेंगे आपसे बड़ा दूसरा दिखाई पड़ेगा वहां जैसे यहां अभी आप दुखी हैं क्यों आप अपने से छोटे को देखते नहीं अगर अपने से छोटे को देखते तो आप सुखी रहते किंतु आदत आपके ऊपर है अरे वह आगे हो गया उससे आप दुखी होते आपने एक कुटिया बनाई दूसरे ने दो मंजिल की बना दी आपको कष्ट होने लग गया ऐसे हो जाता है क्यों जो तो कुटिया बनाते समय देखते झोपड़ी वाले भी तो बैठे हैं ये बुद्धि हो जाती है आपकी तो आप सुखी रहते हैं झोपड़ी वाले को नहीं दिखता दो मंजिल वाली को देखेगी आपको उसका फिर आपको कष्ट होगा साथ ही शेष होता है स्वर्ग में भी ऐसी व्यवस्था जैसी यहाँ की वैसे ही वहां ठीक कहते हैं स्वर्ग शब्द से निर्देश सुख सामान्य आप स्वर्ग शब्द जो यहां पर अमुष्ण स्वर्गीय लोग जो स्वर्ग शब्द आया निर्देश सुख हाँ, जिसमें साथी से सुख नहीं होता आत्मा भाव में पहुंचने के बाद में तारतम्य भाव नहीं है सुख में सबको तो एक जैसा सुख होगा ऐसा देखा दृष्टांत है सुसुप्ति अवस्था सुसुप्ति में कुत्ता हो मनुष्य हो कोई भी हो सबको एक समान सुख मिलेगा सुसुप्ति आत्मा के सुख का एक झलक है दृष्टांत है वहां कोई भेदभाव नहीं होता सुसुप्ति का सुख सबको समान है जितना आपको आनंद मिलता है उतना आनंद कुत्ता को भी है गधे को भी है सबको है सुसुप्ति अवस्था तो इसी प्रकार आत्मभाव में पहुंचे उसके भी ऊपर अवस्था में पहुंचेगी जब सुसुप्ति से ऊपर तो वहां का सुख सारी से कहां से होना निर्देश है समान होता है ये कहा स्वर्ग शब्द से निर्देश से सामान्य है निर्देश सुख का वाचक होने से अच्छा माने सकल सुख अनुसूत है उसमें सारे सुख उसमें अनुसूत है ऐसे बातचीत होने के कारण ब्रह्मानंद से भी तथा ब्रह्मानंद आत्मानंद जो होगा आत्मसुख आनंद मान सुख ब्रह्म सुख जो होगा ब्रह्म भाव को पहुंचना वो सुख तस्य मुख्य स्वर्गत्म इसलिए मुख्य स्वर्ग वही है स्वर्ग शब्द सुख का वाचक होता है सामान्य सुख का वाचक होता है मुख्य रूप से सुख वही है ये मुख्य स्वर्ग शब्द का वाच्य आत्मा ही होता है वैषयिक से तो स्वर्गम स्वर्गत्व आपेक्षिकम जो वैषयिक विषय संबंधी सुख है कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला जो स्वर्ग है वो आपेक्षिक सुख है साधिशय है वो सुख निर्विषय नहीं है वैषयिक तो विषय जन्म संबंधी सुख जो होगा तो स्वर्ग जो होगा विषय कर्म के द्वारा प्राप्त प्राप्त होने वाला स्वर्ग आपेक्षिक है स्वर्ग शब्द गौण है मुख्य है उक्त से स्वर्ग से ब्रह्मरूप से स्वस्मात भेदम आशंका था वो जो ब्रह्मरूप सुख है हम तो प्राप्त करने वाले हैं और वो प्राप्त होगा तो भेद और भिन्न होगा ये शंका आ सकती है हमको उसको प्राप्त करना है सुख प्राप्त करना है हम प्रापक हैं वो प्राप्य है तो भेद होगा ये शंका है उक्त से स्वर्ग से जो कहा गया स्वर्ग है आत्मस्वरूप स्वर्ग ब्रह्मलोक ब्रह्मस्वरूप से स्वर्ग से स्वस्माद भेद अपने से तो भिन्न होगा वो ये शंका होने पर कहते हैं स्वस्मिन का स्वर्गीय लोग मैंने स्वस्मिन आत्मा नहीं अपने आत्मा ही है वो अपना स्वरूप ही है वो भिन्न नहीं है अपने आत्मा में पहुंच जाए वो ब्रह्म को प्राप्त करना है मान पंचकोश से ऊपर होना यही है पंचकोश से ऊपर होने की चेष्टा करें स्वस्मिन आत्मनि इत्यादि बता रहे आगे आत्मशब्द से अंतकरणादि अर्थ होगा देखो आत्मशब्द का अर्थ आत्मा भाई जायते पुत्र में आत्मा आएगा तो शरीर को आत्मा माना जाएगा ये शरीर ही पुत्र रूप से पैदा होता है वहां आत्मा शब्द शरीर के लिए प्रयोग होता है और आत्मसमय में वो नाम ष्टोध्याय का है गीता में आत्मसमय आत्मा को नियंत्रण करेंगे आप तो क्या है आत्मा मन है वहां मन के नियंत्रण करने के लिए सारे योग का विधान बताया आत्मा माने वहां मन का विषय करता है आत्मशब्द का कभी कभी आत्मशब्द मन के लिए बोला जाता है ष्टाध्याय गीता ष्टाध्याय जो आत्मशब्द का प्रयोग है मन के लिए इत्यादि ये कहते हैं आत्मशब्द से अंतकरण आदि अर्थत्व आया आत्मशब्द का अर्थ मतलब अंतकरण आदि को प्राप्त हो रहा होगा कहते हैं नहीं अंतकरण आदि नहीं मुख्य आत्मा ये कहते हैं स्वे स्वरूपे कहा या आत्मा का मतलब अपना स्वरूप आदि नहीं ये भाष्य में कहा स्वे स्वरूपे इत्यादि ठीक है अमुष्ण स्वर्गे मर्त देहादि भावम विहाय भावे नवस्थित ये कहना चाहते हैं उस स्वर्ग में आत्मरूप स्वर्ग में मर्त देहादि भाव विहाय स्वर्ग प्राप्त करना आत्मभाव प्राप्त करना मैंने जो मर्त शरीर आदि थे देहादि भाव को परित्याग करना न हम देह न मे देह इस भाव में जाना मैं शरीर नहीं हूं मेरा शरीर नहीं है ये भाव शरीर से मैं मेरा पना हट जाना यही वो आत्म प्राप्ति के लिए है तीनों शरीर खाली स्थूल शरीर से नहीं खाली है स्थूल शरीर है हाँ, ये तो एक कोष है चार कोष तो उधर पड़े हैं सूक्ष्म शरीर में पड़े हुए हैं सूक्ष्म से भी कारण से भी मिलकर चार कोष होते हैं पांच कोष के बाहर है आत्मा सभी कोषों से बाहर होना पड़ेगा अमुष्मिन स्वर्गे माने उस आत्म रूप स्वर्ग में मर्त देहादि भाव या मर्त देहादि भाव है ये मर्त्य है ये इससे ऊपर उठना है स्वात्म भाव इत्या कहा अमृता इत्या पहले मर्त्य था अब अमृत भावना मिला शरीर भाव में होते समय मरने वाला समझता था शरीर भाव से ऊपर उड़ा था अपर समझने लगा भावना बदल गई उसकी यही कहा उक्त स्वर्गीय श्लोक सर्व काम अवाप्ति इति भ्रमण आ रहे वो जो आत्मरूप स्वर्गलोक में सारे वहां विषय की प्राप्ति होगी ऐसे किसी को भ्रम हो सकता है क्यों सर्वान कामन आपका दिया है आत्मलोक हम उसमें स्वर्गलोक है सर्वान कामन आपका बोला उस स्वर्गलोक में आत्मलोक में आत्मा में सारे विषयों को प्राप्त करेगा ये किसी को भ्रम हो सकता है आत्मा में कुछ विषय प्राप्त होना नहीं है तो होना ही होना जो जो आपने पकड़ रखा है उसको त्यागना है यहां तो नंगा करना है आत्मा को पाना कुछ भी नहीं खोना है सच्चाई ये है यहां तो वियोग होना है योग कहा है तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चय नियुक्तव्यो योगो निर्गण चेत था गीतम का उसका समझना क्या है वो योग नाम दिया है किंतु वियोग है दुख संयोग का वियोग है दुख का जो संयोग हुआ था संबंध था उसका वियोग करना शरीर आदि दुख का संयोग था आत्मा में उसका वियोग करना तम विद्या दुख संयोग वियोगम दुख संयोग का वियोग है वो है वियोग किंतु योग संगीतम योग करके कहा दुख का नाशक है इसलिए उसको योग बोला वियोग है कहते हैं उक्त स्वर्गलोक सर्वकाम अभाव की प्रथमता आ रही उस आत्मलोक आत्मस्वर्गलोक आत्मरूप स्वर्गलोक में सभी विषयों की प्राप्ति होगी ऐसे भ्रम किसी को हो रहा है उसके निराकरण से पूर्वम सम्यक आप्तकाम तया ये कहा पहले ही आप्तकाम है वहां जाने के बाद आप्तकाम नहीं होगा ये कहा आठ नंबर की टिप्पणी एवं उक्त स्वर्गलोक एवं उसी स्वर्गलोक में आत्मलोक पहुंचने के बाद ही सारे काम की प्राप्ति होगी ऐसा कोई शंका करे तब कहते हैं उत्तर देते हैं नहीं पूर्व सम्यक आप्तकाम तया जीवन एक सर्वान काम आपका जीवन काल में सभी कामना को प्राप्त करना जीवन मुक्ति में ही प्राप्त करना माने सकल पदार्थ अपने से अवैध मानता है उस काल आत्मज्ञान होने पर तो अवैध होने पर फिर प्राप्त ही हो गया वो यही मान के प्राप्ति है वास्तव में प्राप्त है प्राप्ति दूसरे की प्राप्ति होती है अवैध हो गया तो क्या प्राप्त कर संपूर्ण तद्रूप हो गए यही समझना है ये कहा टीका में आगे जीवन मुक्ति दशायाम आप तकामतया सर्वा सर्वात्मत्व जीवन मुक्ति काल में ही वो आपका काम है माने सर्वात्म भाव को प्राप्त है यही काम की प्राप्ति कहा टिप्पणी नौ नंबर स्वभिन्न से काम मानस अभाव जब सकल इदम अहम च वासुदेव एवं ऐसी भावना हो गई जो कुछ ये संसार है और मैं हूं वासुदेव भी है वासुदेव सर्वविधि समात्मा से दुर्लभ ऐसे ज्ञान हो सकल इदम अहम च वासुदेव सब आत्मा ही है ये ये जगत मैं सब आत्मा ही ऐसी भावना को पहुंच गया था तब क्या होगा तो कहा स्वभिन्न से काम्यमान से अभाव अपने से भिन्न काम्यमान वस्तु नहीं है जिसकी कामना करेगा सकला आत्म रूप में हो गया उसका अपने से भिन्न कुछ भी नहीं है उस काल में काम्यमान वस्तु ने क्या प्राप्त करेगा तो सब आत्मा भाव में हो गए कहना वही प्राप्ति बताया वास्तव में प्राप्ति नहीं पूर्वत्र हेतु यही होता पूर्वत्र में यही हेतु है कहा सोदाहरण से आया आगे उदाहरण के सहित दो दो, दो वचन समभवत समभवत करके आया फल के सहित आत्मज्ञान का फल अमर हो जा अमर भाव को प्राप्त होना और उदाहरण दिया बामदेव जी का उदाहरण के सहित आत्मज्ञान से परिसमाप्त प्रदर्शनार्थम कहा आत्मज्ञान की समाप्ति दिखाने के लिए समभवत समभवत दो बार कहा था ठीक है इसकी उदाहरण बामदेव थे तो उदाहरण क्या है तो उस उदाहरण उदाहरण बामदेव का दिया है पूर्व मंत्र ने यह कहा

तन्मावतु तदपारवतु अवसुमा